हमको सब प्रकार के लोग चाहिए ब्राह्मण भी चाहिए और क्षत्रिय भी और वैश्य भी चाहिए और बचे हुए इसलिए हम सब प्रकार का पाठ पढ़ाते हैं योग बताया आप ना अच्छा। सब पाठ पढ़ाते हैं आपको सुनाई नहीं देता खूब हो गए बुद्धिमानों से पूछना कितने प्रकार के पाठ वो जो आया ना व्यवहार मालूम और सिद्धा प्रकाश में हाँ। चल वे तू क्या जानता है हाँ। गुरु का चेला हम इतने प्रकार का पाठ जानते हैं गणेश है गणेश आय जन्म है गणेशाय नमः हाँ। नहीं सुना आपने तो इतने प्रकार का पाठ जानते हैं आपने एक ही प्रकार का सुना है कल कौन से प्रकार का पाठ सुनाया था सायकाल कल इतना कि योग का ही खा दूसरा भी साथ में भगवान अब ये माताएं बहने पुरुष घर में ऐसे जैसे उर्दू का पैल होता है ना ऐसे बेचारे चपके रहते और उनको वैराग्य नहीं होता जब उनको वैराग्य पैदा करना पड़ता है तो वैसी बात सुनानी पड़ती है ठीक है अब एक छोटा सा बच्चा आता है वो घूमता है अरे माताएं देखती है कि मेरे पास कब आए या नहीं है हाँ, ठीक ही बात कहते हैं तो वो जो व्यक्ति जो है इसको कैसे छुड़ाए तो इसके लिए हम दूसरा पाठ क्या आजकल के जो युवक है ना अपने ये फोन बैठे ऐसे ऐसे युवक ये तो हो सकता समझ गए हो वो एक कहते हैं वो फोटो आपका जब आएगा ना पचहत्तर वर्ष की अवस्था होगी तब भक्ति करें पचहत्तर वर्ष तो हमको कहते ऐसा मत समझो भक्ति बच्चे के लिए भी है भक्ति बूढ़ों के लिए भी है भक्ति सब के लिए ना तो कभी बोलता है आज ये मेरा ये इस शरीर को देखता है विश्व में देखता है कि ये पता नहीं अगले मिनट में शरीर रहेगा ही वही व्यक्ति ईश्वर भक्ति करता है वही मोक्ष मार्ग पर चलता है वही परोपकारी बनता है वही प्यार करता है इसके विपरीत दिमाग वाला व्यक्ति सारे उठे उठे कर्म करता है क्यों ऐसा करता है वो जानता नहीं भैया वेद में क्या संकेत दिया उल्लू किया तुम सुशुलोकयातुं यही स्वयातम उतः कोकयातम सुपर्णयातम उतः गृधरयातम त्रिषदा एव प्रमृण रक्ष इंद्र ये आंतरिक शत्रु भक्ति नहीं करने देते प्यार नहीं करने देते तो उपमा दी है पशुओं की पक्षियों व्यक्ति को समझाने के लिए उपमा दी गई शब्द इतने कठिन नहीं है उलूक को आप जानते हैं की या तुम उल्लू को कहते उल्लू को उल्लू देखा तो या असल की बोली विविध प्रकार की होती है उल्लू की एक बोली तो ये होती है तो किचर किचर किचर किचर किचर किचर में जब बैठा हो तो बिल्ली की तरह नहीं दिखता बिल्ली की तरह और कौए चौच मारते पीछे दिन में पर रात को कौए को खा खाया दिखता थोड़ा दिखता या तुम का अर्थ है व्यवहार या गतम धातु की अहम यामी अहम यामी क्या मतलब मैं जाता हूं अहम गच्छामी वही अर्थ है और अहम यामी या तुम तो उल्लू के या तुम व्यक्ति तू उल्लू की चाल को छोड़ दे देखा उल्लू की चाल क्या है उल्लू अंधेरे से प्यार करता है अंधकार से प्यार करता है चोर डाकू ही अंधेरे से प्यार करता है और अंधेरा हुआ पक्षी चिड़िया उल्लू इनको खा जाता है और ये प्रकाश से बैर रखता है जो व्यक्ति अविद्या से प्यार करता है और विद्या से बैर रखता है वो किसका भाई है तो छोटा छोटा बता पाएंगे उलोक या तुम व्यक्ति तुम तो कुल की चाल को व्यवहार कर छोड़ और सुशुलोक या तुम जिसको कहते हैं भेड़िए को बड़ा करूर जानवर बहुत क्रोधी होता आपने कही ने व्रत लिया कि हम क्रोध नहीं करेंगे कहीं के क्रोध को तो दूर करेंगे वहां एक व्याख्या बदल दो क्रोध न करके वहां पर मन्यु किया जाता है अन्याय को उखाड़ के फेंकना हो अन्यायकारी को उखाड़ के फेंकना हो तो बुद्धिमान वहां क्रोध न करके मन्यु करते हैं कम बुद्धि वाले क्रोध करते और क्रोध करने वालों में यह रोग होता है वो भाई को भाई मार डालता क्रोध में दोष है मनु में यह दोष नहीं कुछ समझ में आया तो क्रोध नहीं करना आज करे थे मैं क्रोध करूंगा उस मंजू में और इसमें दोष अच्छा परमात्मा दंड देता है गधा घोड़ा बनाता है किसी को खच्चर बना देता है किसी को कुत्ता बना देता है वो क्रोध नहीं करता मन्यु रखता मन्यु रसी मन्यु मई हे हे ईश्वर तू मन्यु है मुझे मन्यु दो तो इसलिए व्यक्ति क्रोध जो है भयंकर संतुलन को खो देता शत्रु है व्यक्ति का उसको मत करना पर दुष्ट को हटाना हो दुर्गुणों को हटाना हो अन्याय को हटाना हो तो मन्यु करो मन्यु में संतुलन नहीं बिगड़ता क्रोध में संतुलन बिगड़ता मन्यु में व्यक्ति दुखी नहीं होता और क्रोध में दुखी होता है मन्यु में व्यक्ति जलता नहीं और क्रोध में जलता है ये अंतर है मन्यु में क्रोध आपको मैं धमकाता हूं ना कई बार तो क्रोध से धमकाता हूं मन्यु से नहीं देखा धमकाते हुए आगे क्या किया या तुम वही है क्यों करते भेड़िए की चाल को छोड़ दे ये जही जो है ना जही ये इन सब के साथ पीछे आगे लगेगा जही उल्लू के यातम जही उल्लू की चाल को मार शत्रु को और सुषुल्लू के यातम भेड़िए की जो चाल है हमारे अंदर क्रोध का जो दोष है उसको जही मार फिर क्या कहा स्व यातम स्व कहते कुत्ते को जानते हो ना हाँ, स्व यातम पुत्रा गुजराती भाषा में कुछ કહે છે तो वो कुत्ते की चाल कैसी होती है मुझे कुत्ता बड़ा भारी स्वामी भक्त होता है और उसमें वो भक्ति के साथ साथ दोष होते हैं एक तो अपनी जाति से बहुत लगता है बहुत भयंकर अपनी जाति से इतना लगता है या दूसरे से कम ही लगता हो एक दूसरे मोहल्ले में दूसरा छोटा सा गरीब सा पिल्लू चला जाएगा उसको देख के खा जाए एक बड़ी रोचक प्रथा कल्पना की थी एक बार दिल्ली से एक कुत्ता जो था वो हरिद्वार स्नान के लिए गए <laughs> तो कुत्ते ने कहा भाई कहां जा रहे हैं पड़ोसी जो कुत्ते वो प्यार से रहते बड़े पड़ोस भाई जिसे घटना में लड़ाई होती है उनकी सामान्य रूप से लड़ाई नहीं होती <laughs> तो वो जो मुझे कहां चलेंगे भाई हरिद्वार स्नान के लिए जा रहा हूं कितने दिन आएंगे कम से कम एक सप्ताह तो लेके जाएगा दूर है हरिद्वार वो चला वो दिल्ली से निकला गाजियाबाद के आसपास आ तो एकदम टूट पड़े गाजियाबाद के पीछे इतनी दौड़ लगाई पसीने पसीना थोड़ी सी देर में मतलब उसके पास मेरे के पास थोड़ी देर लगी फिर वो वो भी तैयार थे मेरे वाले जोर से आक्रमण किया वहां से पसीने पसीना साठ टूट लगा थोड़ी देर साठ टूट वाले तैयार थे और जब पसीने पसीना हरिद्वार दो ढाई दिन भी नहीं लगे होंगे इतने आने में लगे वही बात तो कुछ दिन बाबा तू तो एक सप्ताह से कथा जाऊंगा तुझे तो दो ढाई तीन दिन में आ जा ये तो हमारी बिरादरी ऐसी है जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया जल्दी से जल्दी एक तो उद्यम का जो दोष है वो हमारे अंदर है अपनी जाति से मनुष्य जाति से ध्रुव झगड़े ये सारे कुत्ते के जन्म लेके आएंगे पीछे से इससे बनकर के पाप हो गए ना और बराबर पाप पुण्य आए तो फिर दोबारा मनुष्य बन गया तो कुत्ता जो था हाँ। तो क्रोध और काम तो वही गुण दोष होते हैं उनमें पशुओं और मनुष्यों बराबर होते और दूसरा कुत्ते में ये दोष अधिक होता कि अपने स्वामी की चापलूसी बहुत अधिक करता देखा आपने अति करता है करनी चाहिए उसको मानना चाहिए उसकी रक्षा पर ये हकीकत का एक टुकड़ा डाल के दिन भर पूछ नहीं रहा तारे घर आगे आगे बात तारे दिन भर पूछ नहीं रहा तारे आगे घर जो मनुष्य इस प्रकार की चापलूसी जिसको बोलते ना उर्दू भाषा में ऐसे जो करता वो मनुष्य बहुत खराब उचित ही उसका कृतज्ञता का अभिव्यक्ति का फिर क्या कहा सुपर्ण यादव हाँ को भी आतम छूट जाता वो कहते हैं चिड़ा को चिड़िया को ये अत्यंत कामी व्यक्ति पक्षी होता है तो काम जो शत्रु है व्यक्ति का मार डालता है तो इसको भी हम अंदर का शत्रु समझते हैं और ये बिना योग के इसको मारा नहीं जा सकता आप यहां कई बार श्लोक सुनते होंगे सुने होंगे किसी ने शायद जी का श्लोक होगा उसका भाव है कि संसार के अंदर हाथी को मार डालने वाले शेर को मार डालने वाले सैकड़ों क्या हजारों वीर मिल सकते हैं पर काम को मारने वाला दुनिया में कोई बिरला व्यक्ति नहीं इसलिए को गया सीरिया की चाल व्यवहार अति कामी दोष इसको छोड़ सुपर्ण या तुम सुपर्ण यहां जो व्याख्याकार ने क्या सुपर्ण कहते गुरु पक्षी उनकी व्याख्या हम इसको दूसरी जगह भी लगा सकते हैं बात कोई तो भी सुपर्ण के जेतु अतिशक्ति नहीं बात देखा मैंने तो इसको तो ये कहा गया कि ये सुपर्ण जो है अर्थात ये पक्षी बहुत अभिमानी है इससे दोष लिया गया अति अभिमान व्यक्ति का नाश कर देता है ये लिया और बाज आपने देखा हो बड़ी अच्छी पांख होती है और वो सारे दिन ऐसे चलता है ताकता रहता है छोटी छोटी चिड़िया ऐसी चीज ऐसा भयंकर आक्रमण करता है सू सू करता हुआ परिणाम से चिड़िया को पकड़ हाथ छोड़ डालता है ये उसके ऊपर भी एक जगह लगा हो अभिमान व्यक्ति का शत्रु आगे है गिरधरियातम गिरध समझते हो एक चील होती है एक गीत होती है इनकी जातियां अलग अलग होती दिन भर आकाश में चक्कर काटती और पशु पक्षी कुत्ता गधा घोड़ा कुछ भी ताकती है कि अब मरा अब मरे कोई अब मरे मैं खाऊं अब मरे दिन भर दूसरे के धन संपत्ति पर जो गीत की तरह लाला ही रहता वो दोष व्यक्ति में आ जाता अति लोग की अत्यंत जो लोभ है व्यक्ति का विनाश कर देता है ये आंतरिक शक्ति फिर है आगे क्या है हे इंद्र ये संबोधन है इंद्र नाम जीवात्मा का हम कौन है इंद्र इंद्रियों से काम लेते हैं इंद्रियों का संचालन करते हैं हम इनके स्वामी हे इंद्र प्रमृण दृश्यता आप बना दो दृश्य शब्द का विद्या में क्या बन जाएगा रूप नहीं आया हुआ दृश्य और दृश्यता पत्थर के द्वारा पत्थर से जैसे चिटनी चिटनी तो बनाते हुए हम पत्थर से जैसे कूट कूट के चिटनी बना देते हैं किसी को इनको देहता ही पत्थर से जैसे कूट कूट के किसी को चूर चूर कर दिया जाता है पर मृणा मसल डाल इनको इन इसको रक्ष इन राक्षसों को इन दुष्टों को जैसे पत्थर से किसी चीज को चूर चूर कर दिया जाता है इसी प्रकार इन शत्रुओं को समाप्त ये हमारे अंदर के शत्रु हैं आप इनके दर्शन कर सकते हैं दिन भर साधना में भी इनकी स्थिति उभर के आती है और दिन भर हम सावधान रहते हैं तो कभी इनको हम रोक पाते हैं जान पाते हैं कमजोर बनाते हैं और फिर इनको उखाड़ के देते ये मत समझना ये कितने ही बलवान हो कितने शक्तिशाली दिखते हों हम इनको कालांतर में बिल्कुल भुने हुए दाने की तरह इनको भून दे एकदम तो नहीं होगा योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने वाला व्यक्ति यम नियम का पालन करने वाला व्यक्ति वैराग्यवान व्यक्ति सदा अत्यंत सावधान रहने वाला व्यक्ति मन को संयम रखने वाला व्यक्ति परोपकारी व्यक्ति निष्काम भावना से कर्म करने वाला व्यक्ति महापुरुषों का संग करने वाला व्यक्ति ईश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति बार बार समाधि लगाने वाला व्यक्ति इनको बिल्कुल धोने हुए दाने की तरह जला देते दिखते ऐसे हैं कि इनको मार नहीं सके आप देख सकते हैं नब्बे वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति भी अंदर काम क्रोध लोगों को ज्योका का चूल्हे बैठा मिलेगा जैसे हमारे अंदर से ये अंग बन गए हों ऐसे बने हुए बैठे होते हैं परंतु योगाभ्यास करते जाइए और जो मैंने कुछ बातें बताई उनको करते जाइए कालांतर में ये संभव है और बिल्कुल ऐसा दिखने लगेगा हाँ अब मैं उस स्थिति में आ गया हूं अब इनको जलाऊंगा कितने दिनों में पहुंच जाओगे आप यहां अब मैं इनको जलाऊंगा कितने दिनों में पहुंचोगे नहीं पता नहीं असल में इनको मार वो व्यक्ति नहीं सकता जो इनसे प्यार करता है क्या समझ माया बोलूंगा इन शत्रुओं से जो प्यार करता है वो इनको नहीं मार सकता व्यक्ति अपने क्रोध से काम से लोभ से लालच से राग द्वेष से प्यार करता जाता है प्यार करने वाला व्यक्ति इनको नहीं मार सकता आपको समझ में नहीं आया प्यार कैसे करता है नहीं आया जी कुछ आया कुछ नहीं आया आपने क्रोध कर दिया उसने कहा कि आप क्रोध नहीं किया करिए अच्छी चीज नहीं वो कहता देखो जी घर में दो बर्तन होंगे तो खट खट खोट हो ही जाती है झट बाना बनाएगी बिना पीछे उसका कमंडल उठा के लेगा सोच के लिए वो बेचारा घूमता रहा पीछे वो कहेंगे भाई आपने तो ये अच्छा नहीं किया बिना पूछे बिना पूछे जो है कमंडल ले लिया वो तो कहा इसमें क्या दोष कुछ भी नहीं मैंने अपना काम जो सिद्ध कर लिया और इसमें कोई दोष थोड़ा है वो व्यक्ति झट से अपने दोष की पुष्टि करने बैठ जाता तो इसलिए इनको जीतने में व्यक्ति को अपने दोष से संधि समझौता कभी नहीं करना राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोहंकार अंदर के शत्रु है ये इनसे यदि हम प्यार करेंगे तो हम इनको नहीं जीत पाते यदि इनके अत्यंत विरोधी हो जाएंगे तो निश्चित रूप में नहीं जीतेंगे आप देख सकते हैं प्राय व्यक्ति जितना दूसरे के दोषों को देखता है और बताता है और उतना अपने दोषों को नहीं देखता नहीं बताता बल्कि उनको दबाने की कोशिश करता है ये तो मैंने सुनाई आंतरिक बात पर याद रखना शत्रुओं की जो व्याख्या है ये आंतरिक है और एक बाहर शत्रुओं का वर्ग है मनुष्य के रूप में समाज के रूप में शरीरधारी मनुष्य जैसे ये आंतरिक शत्रु हैं वैसे बाहर का शत्रु भी ऐसा ही आपने कल सुना था कि हम योगाभ्यास के बल पर तो इनको जीत सकते हैं इस ओर से आंतरिक और बाहर के शत्रुओं को हम संगठित होकर के अपने आप को एक बना करके मिलकर के शास्त्रों के आधार पर बाहर के शत्रु को जीत सकते हैं पर बिना संगठन के ये भी नहीं जीते जा सकते पर बिना संगठन के बाहर वाले भी नहीं जीते जा सकते एक सिद्धांत याद रख लीजिए ये अंदर के शत्रु और बाहर के शत्रु या तो हमको ये मारेंगे या हम ही को मारेंगे कौन सा अच्छा रहेगा हम उनको मारने में अच्छा रहेगा हम उनको अगर हमारी शक्ति है तो हमें चाहिए कि उनको मिटा दें पहले मिटाए इसमें विकल्प नहीं है अर्थात हम इनको न मारे तो ये भी हमको न मारे इसमें ये विकल्प नहीं ये नहीं छोड़ सकते अपने भारत के लोग कुछ इस ढंग से सोचते हैं ऐसा हमने देखा समाज में ऐसा देखा परिवारों में ये ऐसे सोचते हैं कि जो आक्रमण है भारत के ऊपर मत मतांतरों का राजनीति का वो हमारा क्या बिगाड़ेगा हमारा बिगड़ता कुछ नहीं वो आज ये राजा बने बैठे फिर आगे कोई विदेश का राजा बन जाएगा क्या फर्क पड़ता हमारा व्यापार जो का जो चलता है ऐसा सोचते ये सोचना गलत है प्राय दिमाग काम करता है एक व्यक्ति आठ दस घंटे लगाता है व्यापार में धन कमाता है और राष्ट्र के लिए समाज के लिए एक घंटा भी नहीं देता आश्चर्य की बात है न बालकों को प्रेरणा देता है न पत्नी पति की कोई योजना है न पड़ोसियों के साथ मिलता है ये जो स्थिति है ये शत्रुओं के सामने मर के, स्वयं कबूतर की तरह बिल्ली के सामने मर जाता ऐसे मन याद रहे अंग्रेजों का राज्य था जब हम छोटे छोटे थे महात्मा गांधी और ये जो क्रांतिकारी अपना बल जितनी शक्ति थी लेके जूझ रहे थे और ये बूढ़े बूढ़े लोग जो होते थे गांव वो क्या बोलते थे देखो भाई अंग्रेजों का राज्य तो जहां सूर्य उदय होता है निकलता है और वहां से लेकर के जहां अस्त होता है वहां तक ये महात्मा गांधी और ये जितने ये पागल है ये अंग्रेज कभी किसी से हटाए नहीं जा सकते ये कहते थे कैसी अवस्था थी बूढ़े लोग जानते होंगे गांव में एक से आए तो किवाड़ बंद करके अंदर बैठ जाते थे लोग इतना भयंकर कर देखा सुना होगा कभी एक सिपाही आता है उससे मिलना बात करना इतना डरता था व्यक्ति क्योंकि वो विदेशियों का रहता महर्षि ज्ञान सरस्वती ने बात कही विदेशी राजा से है कितना माता पिता के तुल्य भी क्यों न हो तो भी वो महाराज हित नहीं कर उसकी भाषा उसका खान पान उसके संस्कार उसकी परंपरा हमसे नहीं मिलती ये कारण है विदेशी एक बार संस्कृत सम्मेलन हुआ था जिसमें सैकड़ों लोगों ने सैकड़ों देशों ने भाग लिया और ये विज्ञान भवन जहां आग लगी थी यहां पर आयोजन था सारी दिल्ली भर में आयोजन था इन भिन्न नगरों में जाती थी गाड़ियां और मैंने भी भाग लिया और गाड़ी लाती और छोड़ती उस समय इंदिरा गांधी जो थी वो प्रधानमंत्री पद पर थी और हमने देखा ये माताएं पुरुष हैं कोई भी है एक घास है उस पर ऐसे बता दी है ये चटाई बटाई और वो प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली इंदिरा गांधी वो उसी परिवार में बैठ के जैसे माता बहन बैठती है सभी लोग उसमें बैठे पंक्ति में एक समान रूप में बैठे बैठे कोई वो भोजन खा रही है और फिर वो उठ करके मिलने चली लोगों से ही तो पीछे पीछे पता नहीं कितने लोग टूट पड़े उसके पीछे भी आगे भी और इसलिए भी टूट पड़े और चित्र खिंचवाना था अपना उसके साथ नहीं समझे जी एक गुरुकुल के स्नातक के हमको एक ऐसा प्लास्टिक का होता नहीं थोड़ा सा ऐसा लेके नहीं और ये पता नहीं क्या क्या मिला था उसकी ओर से आयोजन कर पाएंगे से वो उसको ले रहा था और इंदिरा गांधी के मिलने चली लोगों से क्यों तो देख के टीचर हम धक्का तो हो ही रहे थे वो चाहता था मेरा भी चित्र उतरे वो चित्र उतारने उतारने के लोग हमें वो झूला भी गया सब कुछ गया क्योंकि मेरा तो सब कुछ गया कहा का चित्र उतरवा तो वो क्या आपने देखा माताएं बहने बूढ़ी बूढ़िया आप देखेंगे उसके माँ के गले में जैसे पड़ जाते हैं ऐसे उसके पीछे लगे हुए तो मैं आपको सुना रहा था अपने देश का राजा होता है तो कितना फर्क पड़ गया और विदेशी होता है तो कितना अंतर देखिए जिम्मेदार इसलिए ये सोचना ये मानना और जो स्थिति बिगड़ती जा रही है उसे विमुख रहना ध्यान ही नहीं देना ये निश्चित बात है लुटने पिटने के सिवाय कुछ भी अंदर के शत्रु मारेंगे और बाहर के शत्रु मारेंगे याद रख लो किसी को बहन हो भ्रम हो कि मेरी संपत्ति मेरा जो धन है आने वाली मेरी तीसरी पीढ़ी खाएगी या दूसरी का भी विश्वास नहीं कर सकती तीसरी की बात छोड़ो यदि इसी स्थिति में रहे तो तीसरी पीढ़ी धन संपत्ति का भोग नहीं कर पाएगी यदि हम आज की तरह चलते रहे और इसका यह तात्पर्य नहीं है हम इसको मोड़ नहीं दे सकते हम इन उल्टी शक्तियों को हटा नहीं सकते यदि हम मिलकर चलेंगे हमारी शक्ति अधिक होगी तो उनकी सारी की सारी उल्टी शक्तियों को उखाड़ के फेंक देंगे पर याद रखना हमारी सज्जा तैयारी और विरोधियों की तैयारी में आकाश पाताल जैसा अंतर है जाके देखो उनकी संप्रदाय के नीचे देखो क्या हो गया राजनीति वाले को तो देखो देश और विदेश में क्या चल रहा कितनी योजनाएं और ये योजना ऐसी नहीं है दिखती रहेगी थोड़ा सा काल लगता है विदेशी राजा आ गया यही होता दिखाई देगा थोड़ा सा काल दिखता है संप्रदाय के लोग राजा बन बैठे हिंदू और आर्यों को मार काट के बांट देंगे भक्ति की तो बात नहीं आई शक्ति की आ गई या नहीं आई बोलो शक्ति का गीत गाया जा रहा है गीत गाया था और ये शक्ति का है तो सब प्रकार की गीत गाए जाते हैं हाँ अब ये जो सारी चीज है योग इसमें मूल में काम करता है इस सारी शक्ति को स्थिर करने में योग चाहिए भक्ति भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए और युक्ति भी चाहिए कितनी हो गई तीन कितनी तीन भक्ति चाहिए शक्ति चाहिए और युक्ति युक्ति तब सफलता मिलेगी हाँ और फिर उसके लिए फिर मुक्ति चाहिए चौथी चौथी का लक्ष्य है तीन तो साधने नहीं समझे तीन साधने हैं और एक लक्ष्य साधे है भक्ति चाहिए और शक्ति चाहिए और युक्ति चाहिए और उसका फल मुक्ति चाहिए समझाते मुक्ति को तो अपने अपने गांव में अपने अपने नगरों में माताएं योजना बना बना के ऐसी तैयारी करें बच्चियों को बालिकाओं को बालकों को एक घंटा डेढ़ घंटा दिया और पड़ोस के बच्चे बुलाए और उनमें ये भाव भरना ऋषियों की गाथाएं सुनाना वीरों की वो चीज सुनाना इन बच्चों के अंदर ऐसी वीरता आती है ये इतने अच्छे बन जाते हैं बिना किसी निर्भयता के वैसा ही चेष्टा करने लगते और ये माताएं प्राय वो रोने लगता बच्चा बिल्ली आई चूहा आया रोने के लिए रोके उसको डरा डरा के डरा डरा के बिल्कुल बेकार बना देते हैं बिल्ली आई क्यों आया हाउ आया भूत आया ये बच्चे को रोने से रोकने के लिए जो है बताया हम क्या करते हैं जो बच्चा बिल्ली से डरता है जो कुत्ते से डरता है हमारे पास में कोई है जी चूहे से बिल्ली से डरता तो हम क्या करते हैं है जी तो दो थप्पड़ मार बच्चे बेटे क्यों ढेला उठाओ ईट उठाओ वो हमारा वो एक दो बार करके फिर कहीं कभी नहीं डरेगा आपको ये बालक सिखाने नहीं आते कि आप मैं सोचता हूं ये बिगाड़ने वाले तो बैठे सिखाने वाले एक बिगाड़ बिगाड़ बिगाड़ बिगाड़ अगले राष्ट्रपति बना देते हैं बिगाड़ करके प्रधानमंत्री बना देते हैं बिगाड़ के न्यायाधीश बना देते हैं बिगाड़ करके थानेदार बनाते हैं सबको बिगाड़ बिगाड़ के अधिकारी बना दिए बंदर के हाथ में डंडा दे दिया और ये सारे संसार को कष्ट के ऊपर कष्ट दे रहे बनाना सीख लो नहीं आता हो तो यहां सीख क्या करो हम गांव में नगरों में जाते सिखाते बच्चे को प्रशिक्षण कैसे देते बच्चे के साथ प्यार कैसे करते अब देखो घरों में दो बच्चे पति पत्नी दो पति पत्नी दो बच्चों को बस में नहीं कर पा रहे दिन रात पसीने पसीना नहीं देखा आपने दो बालक और दो पति पत्नी और दो ही दुश्मन आ रहे कहना उनका माने नहीं दोनों के दोनों आज्ञा का पालन वो करें नहीं नमस्ते करो तो नमस्ते नहीं करें आओ बैठे तो बैठे नहीं ये क्या तमाशा है ये ग्रेस में क्यों गया था ये या तो ग्रेस को छोड़ दो या बच्चे बनाना सीखो बोलो कौन सा करोगे बोलो या तो फिर रहे हो तो वीर ब्राह्मण वैश्य ये उत्पन्न करो बनाओ अन्यथा ग्रेस को छोड़ दो जब अधिकारी बन जाओगे ग्रेस के फिर गृह में जाना इस जन्म में नहीं डोगरे तो में जाना मनु महाराज ने कहा है तुल्य गुणकर्म स्वभाव के हो तो विवाह करवाओ और तुल्य गुणकर्म स्वभाव न हो तो सारे जीवन भर कुमारे रहो विवाह नहीं करवाना और भाई यहां जितने बहने बैठी है और युवक बैठे हैं याद रख लेना आज का विवाह का जो चक्कर है वो कुल्लू के बैल जैसा है कुल्लू का बैल देखा बेचारे को कुल्लू में चलाते हैं आंख बंद कर देते नीचे से डंडा लगता है और तेल निकालता रहता है दिन भर एक गले में घंटी बनी हुई होती है उसकी कुल्लू के बैल की हालत देखी ना तो आज का गृहस्थी तो कुल्लू के बैल की तरह एक दिन इसके ऊपर एक रोचक कथा सुनाई गई वो ये सुनाई ये कुल के बैल के गले में घंटी बंद रही और आंख बंद कर रखी और तेल निकालने वाला अपने कमरे में काम करता रहे और बैल करता रहे और वह अपना काम करता रहे और घंटी उसके गले में टनक टनक टनक बजे अब कई बार खड़ा हो जाए बेचारा वो तो गया बैल खड़ा हो गया भाग के उसका डंडा मारे फिर वो चल पड़े तो एक व्यक्ति ने पूछा भाई तुम इसके बैल के गले में घंटी क्यों मार रखी है घंटा वो कहने लगे ये जब रुक जाएगा तो हमको पता चलेगा कि बैल रुक गया है में चलने से भाग के फिर डंडा मार देंगे वो कहने लगा ये कि बैल ये खड़ा हो जाने से गला आ रहा था तो फिर तुम कैसे जान गए <laughs> तो वो कुल्लू को चलाने वाला व्यक्ति कहने लगा ये आर्य समाजी नहीं है बैल होगा वो तो करे समझ आएगा नहीं याद करने इसका मतलब ये नहीं है कि सारे खराब है आज की जो स्थिति बिगाड़ी है इन लोगों ने उसकी परंपरा फिर इसको महान आश्रम माना वस्तुतः ये अर्थव्यवस्था करने वाला धन यान और माताएं विदुषी योगाभ्यास करने वाली जो होती है ना तो यही योगियों को आसानी से पैदा कर सकती प्रयोग करके देख लो जो माता विदुषी हैं योगाभ्यास किया अच्छी पढ़ी लिखी है संयम से जीवन और उसकी भावना है वेदों की वो छोटे से बच्चे को ही ऐसा बनाएगी जैसा योगियों का चरित्र हो पर आश्चर्य की बात है आज का गृहस्थी संतान बनाना भूल गया स्वयं बिगड़ा है और संतान को बिगाड़ घरों की जो हालत आप जानते भयंकर है इतना विनाश हो रहा घरों में चार चार पीढ़ी बैठे हैं और गंदे से गंदा नाच गाना सुन रहे हैं दादी दादा बेटे बोते बैठे अब तुमको लज्जा शर्म आती है वो उसको चूम रहा है वो उसको चूम रहा है फिर डा, वो डाके लग रहे हैं डाके देख रहे हैं बारह बज गए हैं फिर एक लड़की उठा ली लड़के ने वो उठाती हुई लड़की वो ले गया वो वहां लड़ाई हुई वहां लड़ाई ये लड़के लड़की दिन भर देखकर रात को भी देखते माता पिता रोक नहीं सकता उस बालक ऐसे ग्रह से विनाश होगा और विनाश हो चुका है अब आप रोको हम भी रोकेंगे बिना किए कोई काम नहीं होगा कोई कहे कि कलयुग आ गया है क्या हो सकता है बिल्कुल गलत बात आपने सुना होगा रूस का गदर हुआ और लोगों ने जो गरीब जो थे उनको गोली मार मार के खेलते थे जो हमने इतिहास में सुना रूस में जो धनवान लोग थे वो गोली मार मार के खेलते थे उनको पशुओं को जैसे मार मार के खेलते उन्होंने संगठन किया मजदूरों ने गरीबों ने और युद्ध किया उनके साथ में हार गए बताया जाता है दूसरी बार फिर संगठन किया आगे कचुमर निकाल के रख दिया और क्या टाइप को बदला नहीं जा सकता इसको तो थोड़े से दिन में बदला जा सकता है सारे गृह शासन को बदला जा सकता है सारी राजनीति को बदला जा सकता है पर जब तक व्यक्ति मरने मारने के लिए तैयार नहीं हो तब तक कुछ नहीं बदला जा सकता ये जो क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर भगत सिंह आदि सुभाष इनमें ये चीज दिखती थी एक एक पद पद को वो देखते थे वो कहते मरेंगे या मारेंगे तीसरी बात नहीं सोचते थे यदि ऐसा नहीं होता तो मेरे कभी नहीं जाते यहां यद्यपि दोनों वर्गों ने काम किया है ये नहीं कि एक ने किया ईश्वर महात्मा गांधी जी ने अपने ढंग से किया उनकी शैली भी इन्होंने अपने उससे किया ये गर्म दल के और नरम दल के दोनों में थे ब्राह्मण की प्रवृत्ति भी साथ जुड़ी हुई थी और क्षत्रिय की लिए माताओं सभी पुरुष सुन लो ये जीवन ऐसा नहीं है जैसा आप सोच के चलो संतान बनाओ पुत्र पुत्रियां पैदा करो या तो गार्गी बनाओ या फिर झांसी की रानी बनाओ या तो दयानंद बनाओ या रामचंद्र बनाओ महाराणा प्रताप बनाओ तीसरा होगा तो वैश्य बनेगा वो भामाचार्य जैसा वो भी बना रहे तीसरे नंबर पर आएगा चौथे तो अपने आप बन जाते चौथे को बनाया नहीं जाता अच्छा आज भी कहीं बहुत देर में हो जाए तो बात सुन लो अच्छी तरह से हम तो जैसा कहते हैं वैसा ही करेंगे जैसा करेंगे वैसा ही कहेंगे आप हमारी पंक्ति में कौन आएगा बताओ जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे और जैसा करेंगे वैसा ही करेंगे कोई नहीं रोक सकता मार तो सकता ठीक है क्यों जी अब डरने वाला हमारी पंक्ति में खड़ा नहीं हो सकता पीछे वाले तो दूर बैठे चुपचाप कहीं आगे हो जाएगा जो वो आज खड़ा बड़ा कुछ नहीं करते वो तो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं अगले लोग इसमें तो वही बात है भाई एक पिटता रहे एक देखता रहे उसका दूसरे तो पिटने में आ जाएगा फिर पिटाई दोनों की होगी हाँ अब मिलजुल के इसको हटाना चाहे तो हटा दो तो इसलिए मानव जीवन है संघर्षमय जीवन है और परमात्मा की उपासना योगाभ्यास करते हुए अज्ञान आदि अंदर के शत्रुओं को मारो और देश जाति के विरोधी धर्म के विरोधी वैदिक संस्कृति का नाश करने वाले बुरे राजा चोर आदि उल्टे लोग मिलकर के उनको उखाड़ के फेंको इसमें स्वर्ग मिलेगा लौकिक सुख मिलेगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा हमारा ये काम इसे वेद का संदेश और ऋषियों का है आर्य ईश्वर पुत्र है आर्य कौन होता है आर्य ईश्वर ईश्वर का जो पुत्र है वो आर्य होता है क्या समझे ईश्वर का गुण पूर्ण स्वभाव न्याय प्रिय का जिसमें है उसकी आज्ञा का पालन करता है पिता की वो आर्य है आर्य ईश्वर पुत्र है और फिर क्या कहता है इंद्रम पर धनत अपतुर है और तो विश्व आर्य ऐश्वर्य को बढ़ाओ संपत्ति को बढ़ाओ सब प्रकार की शक्ति को बढ़ाओ और किरण तो रही है विश्वकारी बना रहे बस हम तो एक एक सांस लेंगे इसी को करेंगे और मर गए तो फिर क्या करेंगे अगला जन्म लेके फिर क्या करेंगे दोबारा फिर वही काम करेंगे फिर मर गए तो वही काम करेंगे ये है जीवन और आप ये छोटी सी झुपड़ी में बैठे हो यही आपको हिमालय दिख रहा है ये झुपड़ी इधर उधर हो जाए घरों को झुपड़ी है ना बहुत बड़ा केला इनका घर घर से बाहर तो दिन ही जाने देते अपने ये दिमाग हटा दो और मिलकर चलो एक परिवार की तरह भावना भर दो हम अलग अलग मानते हैं उसमें अधिक विघटन होता है जी तेरह सौ तो मेरा और मेरा सौ तो है। तो अपना है ही ना तेरा तो मेरा और मेरा मेरा तो है ही मेरा तेरा सो मेरा और मेरा सो ये जो विचार भावना है ये सारी की सारी व्यक्ति का विनाश करती है और पाठ क्या आता है वसुधाए व बस ईशावास्यमितम सर्वम सारा परमात्मा से ऊतक प्रोत है हम परमात्मा के पुत्र हैं हम आर्य हैं हमारी धन संपत्ति एक है हमारा सब कुछ परंपरा एक है देश और ये सारा विश्व है और देखो आजकल की सूचना ऐसी भी मिल रही है ऋषि ने लिखा था तिब्बत में पहले सृष्टि रची गई थी और तिब्बत से इधर आके अच्छी भूमि मान के और ये लोग रहने लगे थे ध्यान देना ऋषि की बात की पुष्टि अभी अभी सोलह वैज्ञानिक भूगर्भ के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है उसकी खोज की है अमेरिका के लोगों ने जो सोलह वैज्ञानिक है भूगर्भ के वैज्ञानिक उन्होंने गवेषणा करते करते ये निकाला कि खोज की जैसे संभवत हमको कुछ दिखता है कुछ इसमें प्रमाण मिलते हैं कि सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति तिब्बत में हुई अमरीका के वैज्ञानिक सोलह तो ये आर्य का देश आर्यावर्ती का नाम है आपने क्या सुना ये आर्य लोग बाहर से आए ईरान से आए एशिया से आए इन्हें दुष्ट बुद्धि लोगों ने भारतीयों का दिमाग खराब किया फिर भारतीय भारतीयों को दक्षिण उत्तर के भारतीयों को लड़ाया ही और ये जो पिछड़े वाले जो लोग हैं काले के आजकल के विदेशी दिमाग के लोग अंग्रेजी पढ़ने वाले जो अपनी भाषा को भी नहीं जानते इन्होंने वही उल्टी बुद्धि ली और उल्टी चीजों को पकड़ पकड़ के विदेशी बन गई आज भी ये वही रट्टा लगाते हैं आज ये लोग बाहर से आए ईरान से आए सिंधु नदी से आए ये पागलों का नहीं तो किसका है इसको पूछे थे देखो इसका नाम क्या था महाभारत से पहले क्या नाम था बताओ कोई बताए तो आप बिल्कुल आर्य आर्यवर्ग और इसकी पुष्टि होने लगी है जो पक्षपात नहीं करते वो भी कहने लगे गलत बात है क्या ये लोग आर्य आए और हम यहां बैठे बैठे देख रहे हैं आर्यों का आदि देश ये पुस्तकें छोटी भी और बड़ी भी आर्यों का आदि देश वो पढ़ा करो और क्रांति लाओ जीवन में क्रांति का मतलब आपस तो में मुख मुक्का नहीं अज्ञान का नाश करो इस बिखरे का नाश करो दरिद्रता का नाश करो और ये आपस में टुकड़े टुकड़े करने वाले जो लोग हैं बीच में इनको दूर उखाड़ के फेंको अब इसको मैं विराम देता हूं याद रखिए वैराग्य भी चाहिए योगाभ्यास चाहिए वेदों के विद्वान चाहिए क्षत्रिय भी चाहिए वैश्य भी चाहिए और संगठन चाहिए हम बाहर के शत्रु अंदर के शत्रु को जीतेंगे अब इसको यहीं पर विराम दिया जाता है